वाला सिद्धांत पक्षानुसार अनार्थ कर दिए अब आचार्य शंकर के पहले जो आचार्य हो गए जो अलग अलग अर्थ किए हैं इस प्रतिबोध निगम का उन सब पर विचार करेंगे उनका खंडन यदा पुनः बोध क्रिया करता बोध क्रिया लक्षण तब कर्तारम विचारादि के बोधरक्षण वीतम प्रतिबोध व्याख्या यदि कोई जब ऐसा व्याख्यान करे तो व्याख्यान की नहीं हो सकेगा क्या कह रहे बोध क्रिया का कर्ता आत्मा है ऐसे अर्थात बोध क्रिया रूप के रूप से तब कर्तारम उस क्रिया का कर्ता का कर्तारम विचारादि बोध में जाना जाता है जो उसका नाम बोध लक्षण से जानना बोध रक्षणात्मक क्रिया बोध क्रियात्मक वस्तु है उस क्रिया का कर्ता को जानने से बोध क्रिया के कर्ता को आपने जान लिया बोध क्रिया को भी आपने जान लिया इसलिए बोध क्रिया का लक्षण के द्वारा जो जान लिया जाता है उसी का नाम प्रतिबोध विदितम ऐसा यदि कोई व्याख्यान करे और उसके दृष्टि क्या करें यथा वृक्ष न शाखा चालयती सवायु जैसे वृक्ष शाखा में क्रिया हुई और उस क्रिया में करता कौन उस चालन रूपी क्रिया के द्वारा लक्षित कर लेंगे हम वायु को उसी प्रकार से बोध क्रिया हो रही है कोई भी सुबोधित क्रिया जो हो रही है तो हमारे अंदर जो अनुभव में आ रहा है कि मुझे गट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ ये जो उस ज्ञान के अनुरूप जो बोध क्रिया चाहे इनमें समझो अन्य के हिसाब से जो भी हो तो जिस किसी प्रक्रिया से बोध क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्तृत्व रूप से जैसे शाखा चालन का कर्तृत्व रूप से आप वायु को मान लेते हैं उसी प्रकार से बोध क्रिया कर्तित रूप से आत्मा को जानने का नाम प्रतिबोध विदितम तदा यदा ऐसा करके दृष्टान के द्वारा उन्होंने बोध क्रिया शक्ति शक्तिमान आत्मा द्रव्य तो समस्या क्या होगी यदि उनके मत के साथ चलूंगा बोध क्रिया रूपी लक्षण के आधार पर मैं लक्षक के अनुसार जैसे वायु की वहां कल्पना हुई चारण रूपी लक्षण के आधार पर लक्षण के आधार पर इसलिए तो बोधित क्रिया रूपी लक्षण के आधार कर्तृत्व आत्मा का स्वीकार में लग जाएंगे पार्श क्रिया कर्तृत्व फिर तो वह आत्मा दुर्गी हो जाएगा जैसे वायु द्रव्य है उसे आत्मा भी दुर्गी होगा वो बोध रूप ही रह जाएगा या तो क्रिया बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा बोध क्रिया शक्ति वाले आत्मा होगा प्रत्युत्तम भवती न भूज स्वरूप ही होगा अरे यहाँ तो इनमें क्या है आता तो भोज रूप ही है और यहाँ पर आपके अनुसार जाएंगे तो बोध का खत्म हो जाएगा बोध शक्ति वाला हो बोध तो तो मनुष्य पीछे और क्या है बोध क्रिया उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही वृत्ति के आधार पर हमारे वेदांत पतानुसार है अभी यदा बोधे जाएगी तो वह बोध क्रिया सह विशेष इसलिए जब बोध क्रिया उत्पन्न हुआ करेगी तो उस बोध क्रिया के वजह से उस आत्मा में भी आपको विशेष लगना पड़ेगा आपको इससे वायु में क्या होता है इस समय आप बोलो ना पूरी ठंडी ठंडी लहर चल रही है क्रिया हुई तभी उस उसमें कहेंगे कभी तो गर्म कभी कहेंगे तो एकदम स्तब्ध वायु है कि नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है भले आदमी जिंदा है वायु तो है ही कोई भेड़िए कहेगा कोई देगा तो एकदम स्तब्ध जब तक वायु होगी संसार जब क्रिया नहीं है श्राव को भी करना पड़ेगा आत्मा है मेरी क्रिया लक्षण के आधार पर कर्तृत्व आप वायु के समान आत्मा को पकड़ने लगने की चेष्टा करेंगे तो जब वही क्रिया उत्पन्न होगी तो उस बोध क्रिया के उससे उसके साथ कुछ विशेष शास्त्र मानना पड़ेगा यदा बोध निश्चित यह नष्ट बोध द्रव्य मात्र तो निर्विशेष और जब बोध नष्ट हो जाता है तब जो है नष्ट बोध वाला वो आत्मा द्रव्य मात्र तो रहेगा निर्विशेष है निर्विशेष रूपा दोष रहित रहेगा केवल जब जब से भी विक्रियात्मक है यदि तो ऐसा मान लोगे ना हाँ, तब तो आपका क्या होगा विकारवान हो जाए जब बोध उत्पन्न हो जाए तब कुछ विशेष हो गया जब उत्पन्न नहीं है तो कुछ विशेष भाव में चला गया मैंने कभी ऐसा कभी वैसा होते तो नहीं था क्रियावान हो जाए जैसे आपने खाए पिए तो मूर्ति वगैरह हो जाते हैं और नहीं खाते पीते हैं जीवन गुजर रहता तो जैसा आपने डाला उसी हिसाब से आप देख रहे जो भी क्रियाजन्य वस्तु होता है और क्रियाजन्य विशेषताओं को जो प्राप्त करेगा वो अवश्य ही विक्रियावान हो जाती याद भोजन क्रिया उसी प्रकार की आत्मा में बोध क्रिया के विषय आत्म विशेषता मानोगे बोध क्रिया है तो विशेष है बोध क्रिया नहीं है विशेष नहीं है तो आत्मा विक्रियावान हो गया तो विक्रियात्मक हो जाएगा सावय हो जाएगा अनित होगा और अशुद्ध भी हो गया इत्यादेशा न परिहर्तम सत्यम इत्यादेशों का परिहार नहीं कर सकते कहता है कणाद आदि विषय के चीज लगा होते बीच में कहते महाराज आत्मा की क्रिया वाला नहीं होता क्यों ज्ञान क्रिया से आत्मा संयोग के द्वारा आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है और आत्मा स्मरण से घटा आत्मा से ज्ञान उत्पन्न हट गया लेकिन आत्मा तो वैसे तो वैसे नहीं जाता आत्मा तब भी अधिप्रिय रहेगा ऐसा कारणावधि यदापि कारणादानाम यदि कारणादानाम आत्मसंयोग जो बोधो आत्मसमवती अतः आत्म ही बोधत्व क्रियात्मक आत्मा उनका कहना होगा आत्म संयोग से जो ज्ञान आत्मा के संवर्धन से रहता है रहने के बावजूद यद्यपि वह आत्मा बुद्धित्व है आत्मा के अंदर लेकिन वो क्रियात्मक नहीं ज्ञान कर्तृत्व तो हम मान लेंगे फिर आत्मा में तो ज्ञान को आत्मा में समय समय से आत्मा ने प्रकाशन किया है और ज्ञान आत्मा में रहता है और आत्मा ही उसको प्रकाशन करता है इसे ज्ञान कर्तृत्व आत्मा में बुद्धित्व को मानते तो है किन्तु बुद्धित्व मानने मात्र से ही उस विक्रिया को हम नहीं मानते क्योंकि बुरा अंधकार में से आया हुआ है आत्मा स्वयं आत्मा ज्ञान के कर्ता नहीं हुआ आत्मा से हम कोई क्रिया नहीं किया क्रिया कहा हुई मन में हुई क्योंकि यहाँ अन्यत्र कर्म संयोग है वह कर्म संयोग नहीं यदि आत्मा ने क्रिया आत्मा ने खुद ही क्रिया किया अति उस क्रिया का कर्तृत्व यदि आत्मा में आ जाता तब तो आत्मा को भी मानना उचित है जैसे आप कोई क्रिया करते हैं उस क्रिया के तो आपके में कर्तृत्व है, है? हाँ? तो वह कर्तृत्व होने के कारण से यदि क्रिया का फल अनुकूल है आप प्रसन्न रहते हैं क्रिया का फल प्रतिकूल हो गया आप बिगड़ जाते हैं आपके अंदर विकास होने लगता है क्यों आपके अंदर उस क्रिया के कर्तृत्व आ जाने से लेकिन यह नहीं है कि मैं कहना है पूर्व व्यक्ति का मत यही था आत्मा स्वयं बोध क्रिया के द्वारा लक्षित उस क्रिया का कर्ता ही था जिस क्रिया का कर्तृत्व आपका यह था इसीलिए आत्मा विक्रियमान हो गया अशुद्ध हो गया सारा हो गया लफड़ा हो जाएगा अनित्व आ जाएगा लेकिन हमारे मत में ऐसा नहीं आएगा ऐसे तो कौन कह रहा है खाना भी नहीं है वो वैशिष्ट नहीं है तो उनका कहना है क्रिया आता नियम मानती क्रिया हो रही का मन में और मन में हुई क्रिया के कारण से मन स्वयं आत्मा के साथ संयोग को पैदा कर लिया और उस संयोग के कारण से आत्मा में गुण का उत्पत्ति हुई तो गुणोत्पत्ति या गुणोध्वंस के कारण से आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि उसके पुत्र और भ्रम का कारण माने मन स्थित क्रिया आत्मस्थ क्रिया नहीं अतएव आत्मा में जो दृष्ट है प्रकाश तत्व है फिर भी उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं रहेगा यह अंदर पूर्वता का अतः आत्मनिर्वृत्तम न तो विक्रियात्मक आत्मा फिर उसके अंदर वार्ता में विक्रियात्मकता नहीं मानते घटेगा संभव लेकिन द्रव्यमात्र हम उसको मानते हैं वैशेषिक नहीं का कहना है और मीमांस उसी मत के अनुसार चलते हैं आत्मा को हम क्या मानेंगे जैसा घट में रूप का समय संबंध है घट तो वैसे का वैसा रूप रूप होता है घट का आकर के मरा आप रूप रखते स्पर्श बदलता नहीं बात उस की तो पार्षद हो इसलिए जैसे घट में रूप बदल जाता है लेकिन घट बदलता नहीं उसी तरह आत्मा में ज्ञान आता जाता रहता है वो बदलते रहता है क्योंकि आत्मा में कोई विज्ञान नहीं इसलिए वो जो दोष किया विक्रियात्मक होने का सहाय होगा नित्य होगा शुद्ध होगा वो दोष अब आत्मा में नहीं रहा ऐसा विवेकों को कहना है लेकिन सिद्धांत के अस्मिन पक्ष है अस्मिन पक्ष अभी अच्छेतन द्रव्य मात्र ब्रह्म उसका ये होगा तो द्रव्य का द्रव्य मात्र जो आपने क्या लिया वो तो अचेतन हो जाएगा प्रतिवत आत्मा अचेतनम द्रव्यता प्रतिवत ऐसा न बन जाएगा तो तुम्हारा आत्मा जड़ हो गया और जो कि श्रुति विरुद्ध है श्रुति क्या करेंगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा विज्ञानम ब्रह्मा इत्यादि श्रुत हो बालदास हो इत्यादि श्रुतिया बाइक इसीलिए इस प्राणाद वैशेषिक नया कर्मीमांसकों का आत्मा भी या प्रतिबोध कर्मकम के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है आत्मा निरय प्रवेशाभाव नित्य से प्रत्यक्ष और दूसरी बात आत्मनिर्वय मानता है सर्वव्यापक है वो है और मन का निरंतर सिद्ध नहीं है वस्तु में क्या होता है एक प्रदेश में है एक प्रदेश में नहीं रहेगा ये व्यापक वस्तु की सर्वत है और मन का सभी समय सदा रहेगा उसके साथ और सदा ही क्या होते रहना चाहिए आपको तो रहे हैं प्रदेश प्रदेशाधारा किसी विशिष्ट प्रदेश में आत्मा रहता तो है नहीं सर्वत व्यापक रहता है प्रदेश नित्य मन का नित्य से स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति अपरिहार्य स्मृति की उत्पत्ति का नियम अनुवाद नहीं कर पाएंगे तो सदा अनुभव ही रहेगा स्मृति कहाँ रहेगा सदा अमन प्राप्त का रूप है और सदा ज्ञान पर होते रहेगा तो सूर्य पर तो रहेगा स्मृति के लिए यही मानना पड़ेगा ना भाई अभी ज्ञान था उसके संस्कार बन गया तो संस्कार बनाते वक्त आत्मन नहीं रहेगा आत्मन बना रहे फिर तो ज्ञान होते रहेगा ना संस्कार बनेगा उपासना है संस्कार तो बनेगी ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान जो है जब ध्वंस होता है अपने जब संस्कार छोड़ कर जाता है तब ध्वंस होता है और यदि कोई कुछ हो जाए मन का साथ फिर तो कभी ज्ञान का ध्वंस ही नहीं होता लगातार चलती रहेगी जब संस्कार नहीं होगा तो सूर्य पूरे उत्पन्न हो अथवा दूसरे ढंग से ही कहो स्मृति की जो अनुपत्ति वो भी इसलिए भी हो सकती है तो निरंतर ज्ञान है निरंतर आत्मनसी है निरंतर संस्कार है संस्कार भी सदा है तो स्मृति भी सदा होते रहना चाहिए इसलिए उस दोष को आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो आत्मनसीहत को मानते हो तो संसर्ग तुम चाहते हो श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध कल्पित साथ और दूसरी बात आत्मा को संसर्ग धर्म आपने मान लिया नमक संयोग वाला है ना ही हो गया और असंग आत्मा सुनिया कहती है उसको संग नहीं होता किसी का उसके साथ संबंध किसी भी प्रकार की हो ही नहीं सकती संबंध यदि हुआ भी है आपको महसूस होता है करता है भ्रांति है वो वास्तविक आत्मा के वास्तविक संबंध आत्मा के साथ मान्य किसी भी चीज का आत्मा के संबंध हो नहीं सकता मुझे तो आत्मन सहयोग से ज्ञान संभाव असंभव परिकल्पना है तो संकल्प अनंतम से आत्मरा श्रुति स्मृति न्याय वृद्धम कल्पित असंगन अघत्तम सर्वभूत विश्वति न्याय गुणवत गुणवता संसर्जते न असंग जातीय लौकिक न्याय गुणवान वस्तु का गुणवान वस्तु के साथ ही संबंध होता है अति जातियों का परस्पर जो संबंध नहीं हो सकता है अतः सर्वलक्षण निर्विशेषम सर्वलक्षणम अति अतुल्य जातीय संसद के तहत न्याय निर्गम बने इसलिए निर्गुण है निर्विशेष है सर्वलक्षण है ऐसे आत्मा का किसी मन आदि के साथ में अतुल्य जाति के साथ है मनाने कैसे गुण वाले हैं और आत्मा कैसा है निर्गुण है जो अगुण वाला था सगुण वाले के साथ संबंध असंभव है क्योंकि तो ये न्याय लौकिक न्याय कहता है सगुण का सगुण के साथ संबंध होता है और तुम्हें के उनका साथ संबंध नहीं हो सकता और यहाँ निर्गुण का सगुण के साथ संबंध जो कह रहे हो ये तो बिल्कुल ग्रंथ है न्याय विरुद्ध भी है लोग तभी आप इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते तो आपका मन का सिद्ध होता है चरण जगत केवल केवल चिदाती अतुल्य जाती है ना संसृजते किए तक यही आपका कथन है न्याय रूप विरुद्ध ही होगा अस्मात क्योंकि उनके मत में भी आपका निर्णय मानना पड़ेगा जो मानते हैं आत्म संयोग के कारण से मन ने आत्मा ने ज्ञान को पैदा किया तो भले वो आत्मा ने समय समय मान रहे लेकिन आत्मा का गुण नहीं है स्वभावतः आत्मा ज्ञान के गुण वाला नहीं है वो आगंतुक गुण स्वभाव नहीं जैसे आपके अंदर बुखार आ गया शरीर में और बुखार कहा रह रहा है शरीर में समय समझ रह रहा है लेकिन उस शरीर का धर्म नहीं बना जा सकता आगंतुक है दो दो भाग जाएगा हम्म? जो आगंतुक होता है वो उस वस्तु का स्वाभाविक धर्म को तो स्वीकार नहीं किया गया ये शरीर का स्वाभाविक धर्म है स्वस्थ में निरोगता रहना और रोग जो आ गया वो आगंतुक इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप क्या होगा निर्गुण होगा और उसमें भी क्या होगा मनुष्य के कारण से ज्ञान उत्पन्न हो गया और भले ही आपके मत अनुसार मान लेते हैं तो आत्मा सनातन के भले रहे शरीर में जैसा जोड़ा नहीं रहता है तो आगंतु के कारण वस्तु को शरीर वस्तु नहीं मानी जा सकती इसलिए कहते हैं आपके मत अनुसार भी वास्तव में क्या विवेचन करना आत्मा वो भी मानना पड़ेगा निर्विशेष ही मानना पड़ेगा सर्वलक्षण लक्षण मानना परमात्मा का केन चित अपनी अतुल्य जाति है अतुल्य जाति वाला कौन है मन बुद्धि अहंकार आदि के साथ किस आत्मा का जो सूत्र है ये भी आपका सुंदर संबंध होता है कहते हो यह बिल्कुल न्याय अस्मात नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप जो के रास्ता ब्रह्मा अभिमता सर्वभूत गोतृत्व आत्मना सदी नाम था इसलिए नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप है इसका विज्ञान स्वरूप का कभी होना कभी नहीं होना है नहीं हो अलुप्त है यही वृत्त दूसरे को दिया करें इसलिए यही वृत्त का स्वर्ग वाला है प्रकाश में आत्मा है ब्रह्म है यही अर्थ सर्वबोध बुद्धित्व या प्रतिबोध विपन्न जो कहा हुआ आत्मा का स्वर्ग सिद्ध होता है इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मान्य था तस्मा प्रतिबोध वितम मतम यथा व्याख्या अर्थ अस्मार इसलिए हमारे द्वारा किया हुआ जो अर्थ है जिसका व्याख्यान मैंने किया है वो इसलिए अन्य मतावलंबियों के आधार पर इसके अर्थ को बोले नहीं सकते अब एक अगला मत को उठा रहे जो लोग ऐसा मानते हैं स्व सर्वेज्यता प्रतिबोध वीतम इससे वाक्य से अर्थ वर्णीय कर जो जब प्रतिबोध वीतम स्व संवेद्यता को मानते आत्मा अपने आप को जान देता ऐसा मानते आत्मा आत्मा को ही जान लेता है एक स्व स्वर स्व देता ऐसा वर्णन करते हैं पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष समाप्त कर दी तथा अवधि आत्मन उस पक्ष में क्या होगा समस्या आपका स्वपाधिक मानना पड़ेगा क्यों बुद्धि उपाधि स्वरूप एवं त्रिप्रवृत्य आत्मना आत्मा व्यक्ति की संज्ञा रहा बुद्धि उपाधि के स्वरूप को माने बिना आप जो है आत्मा आत्मा व्यवहार नहीं कर सकते इसलिए जो तीन उपाधि का स्वरूप का स्वरूप को वजह से भेद की परिकल्पना करके आत्मा आत्मा ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा आत्मनिव आत्मान पश्यति स्वयं आत्मना आत्मान व्यक्तित्व पुरुषोत्तम इत्यादि अनेक श्रुतियां इसका प्रमाण है पहला वाला प्रधान परिषद है और दूसरा वृद्धि का प्रवचन है मन निर्वाही तस्वीर आत्मा एक सकते स्वस्थ नहीं था स्पर्श नहीं करा लटू लटू तो दुर्वशय द्वारा स्व संहिता मानना पड़ेगा और ये स्व संहिता का कथन करना है तो आप उपाधि के बिना आत्म स्व संहिता को आप ला नहीं सकते उपाय कौन बुद्धि बुद्धि तर्पण के बिना स्व संहिता आत्मा नहीं हो सकता आत्मा का प्रकाश बुद्धि में जाएगा और बुद्धि से वापस अपने पर आ गया तो यही सब क्या है स्व संहिता कोई प्रतिबोध नहीं आत्मा से प्रकाश चलाएंगे बुद्धि में और बुद्धि में मना से आया ज्ञान का उसको प्रकाशन करने के माध्यम से उस ज्ञान का भी प्रतिबिंब अपने ऊपर ले लिया और क्या होगा तो वो प्रतिबिंबित हो गया तो हर एक ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान होना स्वस्थ विद्युत इस प्रकार के जो मानते हो तो वह भी कुछ नहीं है क्यों निरुपाधिक आत्मा एक तो निरुपाधिक जो आत्मा है ना वो जब एक है तो वहाँ पर स्वयं या परस निरुपदा नहीं हो सकता एक में जब है जब तक भेद नहीं लाएंगे आप तो स्वस्थ निरूपा नहीं आ सकता और भेद लाओगे तो उपाधियों से लाना पड़ेगा और निरुपाधि का उपाधि जो है संबंध की तो परिकल्पना संभव तो पूरा दोष आ जाएगा तो गुण गुणवत्त तेरह न्याय था तो न्याय के अनुसार ही संबंध होगा और यहाँ पर क्या आत्मा भी गुण है निर्वाधिक है और द्वितीय में क्या है सगुण स्वपाधिक है हरीश उपाधि को उस निरुपाधि के साथ संबंध आप बना ही नहीं सकते अतः आत्मा में स्वच्छ निर्ता उपाधि को लेकर के भी वास्तव में नहीं आ सकते क्योंकि आत्मा एक है पर कभी दो नहीं होता किसी उपाधि के वजह से भी भेद प्रति भी है वो आत्मा जानती है आत्मा में आत्मा में कर्त कर्म भाव दो आ नहीं सकता है उपाय के कारण से ही नहीं आ सकता क्योंकि वो नित्य एकत्व उसके अंदर है वित्त का जाति में कर्तृत्व को लेकर कर्मत्व को लेकर जिस व्यवहार करनी पड़ेगी वे व्यवहार करनी पड़ेगी वह उसके अंदर कभी नहीं हो सकता जो नित्य एक है निर्वाहिक है उसके अंदर स्वसंविधिता क्यों परसंविधिता भी नहीं सकता है संवेदन स्वरूप संवेदांत अपेक्षा चरण न संभव उनकी संवेदन स्वरूप ही है प्रकाश रूप ही हो ज्ञान रूप ही हो उसके लिए प्रकाशांतर या ज्ञानांतर की अपेक्षा ही नहीं होता यथा प्रकाश से प्रकाश में अपेक्षा अपेक्षा या न संभव एक प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है उसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञान रूपा प्रकाश रूपा स्वयं ज्योति रूपा आत्मा को प्रकाशन करने के लिए दूसरे ज्ञान या प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती सर्व ज्ञान अद्वैत ज्ञान बहुत बहुत अच्छे किंतु ज्ञान आत्मा वो लोग भी स्वयं का आत्मा मानते हैं आप जैसे वेदांत में जैसे ही वो लोग भी क्या मानते हैं क्षण क्षण मान रहे ना स्वप्रकाश को भी मान रहे हैं स्व सवेद जो भी मान रहे हैं स्वप्रकाश स्वयं बहुत बहुत अच्छे स्व सवेद तो क्षण बंद विराट पद पंच ज्ञान शिष्य इसलिए हम गौर पक्ष को नहीं मान सकते तो उनके पक्ष में क्या है स्वसमिद्धता को मानने के साथ साथ उन्हें क्षण बंधुत्व माना और अंत शून्यवाद में पहुंच करके निरात्मवाद को स्थापित किया वो निरात्मवादी है जो कि वेद श्रुति के विरुद्ध है नहीं विद्या विद्याते विद्या विद्यते अविनाश विद्या का जो विद्या स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है उसका ये कभी नहीं होता क्योंकि यह आत्मा अविनाशी है ऐसा कहने वाले श्रुति का बहुत पक्ष के साथ विरोध होता है इसलिए बहुत पक्ष भी गलत है महान एक महान आत्मा अजरे अमरे अमृत है मृगान इत्याद्या इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाएंगी यदि हम बौद्ध पक्ष को मान के चलते हैं और बौद्ध पक्ष को प्रतिबोध में छोड़ना चाहिए तो ये ठीक नहीं एक और पक्ष लाते ये प्रतिबोध शोक देना तो यदा सत्य इत्यर्थम केवल करेंगे प्रतिबोध क्या करते हो निर्मित तो है इंद्रिय मन बुद्धि आदि जब दूसरा के बिना कौन होता है इंद्रियन इंद्रिय बिना ही जो ज्ञान हो गए उसका नाम वेद ज्ञान नियम ज्ञान को जो जान लेगा वो अमरत्व को प्राप्त कर लेगा ऐसे वाक्य कर लेते हैं यथा दृष्टान क्या है यथा सुख पुरुष का जैसे ज्ञान हुआ और नमन थी न बुद्धि थी न कुछ भी नहीं ज्ञान होता है चीज उसी प्रकार से आती है ऐसा परिकल्पना करते हैं एक तरीका भी कहना तो अच्छी नहीं और कुछ लोग क्या कहते हैं सक्र विज्ञान प्रतिबूढ़ यथा विद्युता जैसे बिजली की चमक होता है बिजली जैसे चमकता है वैसे प्रतिबल में एकदम खट आत्मा का प्रकाश होता है तो सत्कृत तो यथा विदेश अपरे इस अपरमत का विपूलन करते कहते हैं प्रतिरोधा तो क्यों जो कुछ भी आप व्याख्या करो तो सब हमारे कहा हुआ प्रतिबोध के अंदर ये सब कुछ करना है आप निर्मित कहिए चाहे सभी सन्निमित चाहे सकृत भाव कहिए या असकृत भाव कहिए है जो सर प्रतिबोध के अंदर भान ही जो तो है प्रतिबोध तो ऐसा इसीलिए हमारे लिए व्याख्यान का विरोध इन एक देशी का किसी का भी व्याख्यान नहीं रह गया ये फिर हमारे द्वारा क्या व्याख्या में संयुक्त प्रकार के व्याख्या में युक्त है ये बात अब आगे बढ़ते हैं अमृतोत्तम जी दूसरा पाठ ब्रह्मचा पूरा अमृतोत्तम मैंने अमरण भाव में अवस्थान मोक्ष भी स्वार्थ बिंदे लगते अमृत है अमरण भाव अमरण भाव यह स्वास्थ्य में अवस्थान अर्थात मोक्ष दृष्टि दृष्टु स्वरूप अवस्था नहीं हो यशमान जिससे ही मन विकल्प जिससे उत्पन्न होता है यथोत्पाद प्रतिबोधा लोक प्रतिबोध आत्म साधन से अनुभव में आता है प्रतिबोध वित आत्मकार प्रतिबोधित आत्मकार तस्मा प्रतिबोध तो आत्मा के वजह से तस्मात मतम ही हमारा अभिप्राय है कि प्रतिबोध गीत हो वही मत है वही आशा है वही वैसी तो का अनुभव से मोक्ष को प्राप्त होता है इसमें प्रत्येक आत्मा एवं आत्मा विषय चमतम अमर वृत्ते जगत ही आत्मा प्रत्येगात्म रूप आत्मा है विषय ऐसा कर प्रत्येगात्म रूपी आत्मा विषय प्रत्यवाप रूपी जो आत्मा वो आत्मा का जो विषय बन जाए ऐसा जो है वही इस बोध के स्वरूप का ज्ञापन कराता है ये मत अमृतत्व में काम होता है ऐसा जो ज्ञान है वो तो अमृतत्व में काम होता है कहने का मतलब जैसे बोध घटपटारी विषय को लेकर कर वृत्ति बनाए रखते हैं उसी प्रकार से यह बोध जो है जब तक तो आत्मा रूपी आत्मा कोई विषय बना करके रह जाए पुनः अपना जो जीव भाव जो था अभी तक परिचिन भाव उस परिचिन भाव को परित्याग कर जो उस परिचिन भाव का जो अवधारक उस अवधारक स्वरूप को ही विषय बना ले तब जाकर के मोक्ष जब परिचन्न भाव को त्याग होगा सर्व तो सिद्ध कैसे होगा तो सर्वसिद्धि मोक्ष उसे कहते हैं कि प्रत्येगात्मा रूपी आत्मा को विषय करने वाला जो बोध उस बोध का जब ज्ञान होता है तो वह ज्ञान ही अमृत बोध तो से मदन अमृत विषय बोध किया सब कह दिया प्रत्येगात्मा विषय तो प्रत्येगात्मा ये आत्मा आत्मा विषय ऐसे बोध का जब ज्ञान हो जाता है तब अमृत प्राप्ति होती है तो यही आपको अनात्मत्व अमृतत्व में होती आत्मा को अनात्मा समझने से कोई मोक्ष हो नहीं सकता आत्मा को अनात्मक रूप से ग्रहण कर लेने मात्र से अमृत नहीं होती आत्मत्याग आत्म अमृतत्व निर्मितम होगा इसी पर उस आत्मा के अमृतत्व बिना निमित्त का ही हो जाता है इसलिए कारण वेदांत में कहते हैं हमें आत्मा में कुछ करना नहीं है केवल ज्ञान को दूर करना है अज्ञान दूर होने की देरी है बाकी आपका सुनने स्वर्ग सिद्ध ही है और कब आप रूप में चला गया वो तो गया ही नहीं वो तो सदा नित्य रूप में है ही लेकिन बीच में अज्ञान के रूपी जो पालन से जो ढका हुआ था प्रतीत हुआ था उसका आत्मा की अपेक्षा है इधर आत्मन आत्मत्यागेव अमृतत्व आत्मा का जो है अमृतत्व उसका आत्मा होने की ही है इसीलिए निर्निमित्तक है मोक्ष का कोई वास्तव में कारण ही नहीं है कोई निमित्त नहीं मोक्ष का स्वतः सिद्ध का नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव आत्मा है आत्मा कैसा है नित्य शुद्ध नित्य है शुद्ध है मुक्त स्वभाव वाला अमुक्त हुआ नहीं जरूर अमुक्त का भ्रांति अज्ञान इसलिए कहते हैं निमित्तम नहीं एवं मर्तत्व मात्र यदि अविद्या अनात्म प्रवृत्ति जब ये मान लोगे तो आपके अंदर जब आप मर्तत्व अनुभूति हुई थी आपका के अंदर वो तो केवल अविद्या के कारण से थी मर्तत्व विचार बनो ये अविद्या अनात्म प्रति जो अविद्या कारण से अनात्म प्रति होती है यही आत्मा की मर्तत्व कुछ नहीं अनात्म की प्रतिपत्ति ही आत्मा के अंदर मौत की परिकल्पना है जब तक अनात्मत्व प्रतीति है तब तक आगमन वर्चस्व है और अनात्म प्रतिपति कहां गई अविद्या के अविद्या से निष्पन्न आत्म प्रतिपत्ति ही मर्तत्व है आत्मा का और कोई मर्तत्व नाम का उसके अंदर वास्तविक विक्रिया नहीं होती ना कोई ऐसा घर में अविद्या से हुई प्रतिपत्ति के कारण से अज्ञान आत्मा में आरोपित है मन ये मतलब। खत्म खुले रहते कोई आश्रित अमृत मिलते इसलिए यथोक्त या आत्मतया यथोक्त आत्म जगह प्रतिबोधित मदम यह विद्या है या श्रोत तो से श्रोतम जो पहले कहा मन मन हाँ। वो आत्मविद्या है उस आत्मविद्या के द्वारा अमृत से अमृत से कैसे जाग देगा आत्मा विद्या आत्मा स्वेर स्वरूप इंद्रे लगते मलम समक्षम कह आत्मा कर्म स्वेर सकती है इसलिए वही मान लीजिएगा वो अपने स्वरूप में जाएगा तभी तो बन मिलेगा नित्य होने के आवश्यक जो बल है तो स्वर्ग के बिना मिलेगा ही नहीं जब देख लो इस सांसारिक व्यवहार करने के लिए भी जो आपको बल की जरूरत है सामर्थ्य की जरूरत है तो बिना स्वर्ग के मिल जाता है रोज खेते वक्त आप स्वर्ग में जाते हैं मैं बैठी तार दे जाता है सही व्यवहार करता है मैं व्यवहार करने का सामर्थ्य ना रहे चार दिन के अंदर भेज हो जाएगा दबा बहुत जरूरी है स्वयं तो क्या होता है तथा सुखा स्वयं संपन्न भगवती ये शून्य तो सुखा संपन्न भगवती सब के साथ संपन्न के इसके दोबारा बल जो सांसारिक व्यवहार करने के लिए भी आत्मा के साथ सुशुद्धि डालने की दूत हुए बिना सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता है मोक्ष के लिए तो सिर्फ होता है इसे कहते स्वयं स्वरूप बिंदते लगते बलम सामर्थ्यम स्वयं स्वरूप से स्वस्वरूप से ही वह उस वीर मेरे बल और सामर्थ्य को प्राप्त नहीं तो अनित्य होगा तो सुशक्ति की अवस्था से प्राप्त होने वाला बल है वो अनित्य होता जो धन से प्राप्त होने वाला बल है वो अनित्य अनित्य होता मंत्र से प्राप्त बल औषधि से प्राप्त बल पकोड़ से प्राप्त बल योग से प्राप्त धन सहाय मंत्रित प्रतिवीर कृतंगी मृत्यु न शक्ति अभिभवितुम तो मृत्यु को अभिभूत करने में उनका सामर्थ्य नहीं हो सकता क्यों अनित्य वस्तु को बैठा क्योंकि अनित्य वस्तु कि जो आपका धन है जो मित्र आदि है सब अनित्य मंदिर अनित्य मित्र भी अनित्य है मंत्र भी अनित्य है कौशल्या तप योग सब है इसलिए उसी के लिए सामर्थ्य है वह मृत्यु के अवभूत को अमृत को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं मानी जा सकती आत्मविद्याकृति को और ये आत्मविद्याकृत की बात कहा गया वीर आत्मनिर्भर के आत्मविद्याकृत जो वीर है वह आत्मा से ही प्राप्त हो रखा है इसलिए नान्य तो अनन्य साधकता आश्रित्य तदेवीर्यम मृत्यु शिकवती मृत्यु और अन्य के स्थान से प्राप्त नहीं है इसलिए अन्य साधन से उत्पन्न आत्मविद्या से जमी जो वीर है वही वास्तव वीर है जो मृत्यु का विद्युत करने में समर्थ है आत्मविद्या कृत वीरम आत्मनिर्मित जिसमें ऐसा है कि आत्मविद्या कृत जो ये जन्म जो वीर है वो आत्मा से ही प्राप्त होने वाला है अतो विद्या आत्मशीला अंतकरण इसलिए ही आत्मविषय विद्या के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति अवश्य होती है इसी बात को प्रसन्नी का नायम आत्मा बलहीन मध्य ये आत्मा बलहीन व्यक्ति को लाभ होने वाला नहीं है इसलिए भगवान में नहीं है यहाँ बल से आत्मविद्या और ये चाहिए लगता है अन्य जाति प्राय बल बेकार कष्टासन श्रम प्रियता विषय संसार दुख भलेश प्राणी निकायशु जन्म जरा मरण रोग संप्राप्ति रज्जाया अतः ये चेत इत्यादि कष्टासन कहते कि भाई आपने तो कहते रिया लेकिन ये जो है ना रहित को सुनता सूर्य नर दुर्यग प्रेत आदि संसार दुख भवेश कर्म भावेश सांसारिक दुख अधिक है जिसमें और जो प्राणी के निकायों प्राणी निकायों से प्राणी के विभिन्न शरीरों में जीव के विभिन्न शरीरों में क्या क्योंकि जन्म दुरा मय रोगा संप्राप्ति हुई अज्ञान अज्ञान के वजह से जन्म जरा मरण रोगाई की जो संप्राप्ति कष्टा संप्राप्ति अज्ञान ऐसा नहीं नमती संप्राप्ति है वो तो जो कष्ट रूपा संप्राप्ति पांच कष्टा संप्राप्ति अज्ञान के वजह से था अज्ञान अतः यह चेतवेदी वेदी तद सत्यमस्ती महदी भूतेषु मृदा यदि एक मनुष्य जन्म में ही आपने ब्रह्म को जान लिया तब तो आप कल्याण हो गया मन मनुष्य जन्म अस्मिन मनुष्य जन्म ही अलग मैंने ब्रह्म तत्व आत्मस्वरूप को जान लिया और सत्य वस्तु तत्व आत्म कल्याण हो गया मनुष्य शरीर को प्राप्त करे जन्म में ही आपने सात तत्व को नहीं जाना अनुभव नहीं किया निश्चित नहीं हुए क्या होगा कहते कि वो महान नाश भारी क्षति बारम्बार जन्म चक्कर लेकर जो है भारी क्षति अनुभव करना पड़ेगा इसलिए बुद्धिमान पुरुष बुरा बुद्धिमान पुरुष जो है समस्त प्राणियों में भूतेश भूतेश उस ब्रह्म को विचित्र पृथक करती प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष साक्षात अप्रोक्ष रूप से संत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म साक्षात एवं अप्रोक्ष रूप से अधिग्रहित होकर के अग्रोक्ष रूप से इसका अनुभव कर लेते हैं लोक के अपना लेता इस लोक से जा करते कौन सा अमृता अमर होगा इस लोक में जाकर ये अस्मात लोक का यहाँ अस्मात पंचमी ले रहे तर्क हो गया इस शरीर को छोड़ कर दी मैंने शरीर को छोड़ दी शरीर के मर के दी इस शरीर का मरना जरूरी है मुक्ति के लिए हाँ शरीर के साथ जो संबंध है संबंध का छूटना अस्मात लोका मैंने शरीर के लोक से निकल करके अर्थात मर गई ऐसा कर करूंगा अर्थात उसके साथ जो अहमदा ममता आदि संबंध को शोक कारणीभूता वो अविद्या का ऐसा संबंध खत्म हो जाना अविद्या का है संबंध खत्म हो गया इससे क्या होगा अमृता होगा अथवा अस्मात का तस्मिन नहीं अस्मिन प्रेत्य न प्रतिष्ठित इत्य व्यक्ता इसे ब्रह्म लिए नहीं जाकर करके स्वरूप आत्मा विरोध में जैसे गया हो अस्मिन स्वरूपात्म जो ब्रह्मा लोग स्वरूपात्म के प्रकृति लोक में जब चला जाएगा तो अवधार अलग अलग पक्ष है तो कल कहा था सुबह कष्टा खलु सुर नरतांशु संसार मुक्त बहुणेश प्राणी निकायेश जन्म मरण रोगा संप्राप्ति ही अभियान अतः इसलिए मनुष्य यह मनुष्य इस शरीर में संसार में रहते हुए ही अगर अधिकता समर्था सन यदि आत्मा संरक्षण मिलता तदंजन प्रकार अथ तदस्त सत्यम यदि मनुष्य अधिकृत होकर और समर्थ होकर यदि अगर यदि उस आत्मा को जान ले पाए तो आत्मा उपद्रक्षण श्रोत्रक्षण तो तो प्रकार है नंदीता ये जो आचार्य परंपरा से जो का तरीका है उस तरीके से जो जानता है तो है सत्य तत्व सत्य कर गया तब मनुष्य जन्म जन्मने अस्मिन अविनाश अर्थवस्था वा सद्भाव सत्य परमार्थता अर्थ करते हुए सब इसी मनुष्य जन्म में उसको जो है अविनाश भाव की प्राप्ति हुई समझो या उसके मनुष्य के जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है होगा सिद्धोगा निश्चय सिद्धोगा प्रयोजन अथवा उसकी जो है सत्स्वरूप की भाव स्थिति हो गया इस रूप में संभाव हुआ अथवा पारमार्थिक रूप के रूप सत्य को प्राप्त कर गया समझो नचेरिया तो वेदी नचेरिया जीवन क्षेत्र अधिकृत अवेदी पुण्योपदान जीवित होते हुए अधिकृत होकर समर्थ होकर के लिए उस आत्मा को प्रकार प्रक्षण आत्मा को नहीं जानेगा तो सदा महती दीर्घा अनंता कारण है अनंत काल पदयष्टि विनाश विनाश को प्राप्त विनाश क्या है यहाँ और जन्म जरा मरवादिक प्रबंध अविच्छिन्न लक्षण संसार जन्म जरा मरणादि रूपा तो प्रवाह अविच्छेद है प्रवाह रूपा जो संसार गति यह उसको प्राप्त होगा अस्मात एवं गुण दोष उपजानंद इस प्रकार से गुण और दोष को जानता हुआ वेदन और आवेदन का जानने का गुण और न जानने का जो दोष है उसको जान करके जानता हुआ ब्राह्मण ये ब्राह्मण वह मनुष्य अधिकृत होकर के तो सामान्य से कहा गया वही जब ब्रह्म को जाना और ब्राह्मण होगी इसी विशेषण ब्रह्म विशेष को कथन करता हुआ जो है एक तरह से किसका अधिकार है अधिकृत समर्था सब बोला है ना दूसरे वो ब्राह्मण में जाति को तो ही पूरा भार डाल दे निगम का भाव उस ब्रह्म सत्य को जानने का प्रमुख भार जो है अधिकार और सामर्थ्य ब्राह्मण में ही डाल दिया गया यदि ब्राह्मण होकर स्वाध्याय करते हुए को तो आत्मस्वरूप को नहीं जाना उसका कोई होना चाहिए बाकी जाति वालों को दोष नहीं बाकी जाति वाले तो क्या है उनको तो अपना अलग अलग ड्यूटी दिया गया है क्षेत्र का अलग है वैश्य का अलग है शूद्र का अलग है उनका स्वाध्याय तो ड्यूटी तो है पहले पढ़ लिए पेट पालने के लिए ही सही आप ना पेट पाल रहे क्षेत्र शूद्र का यही काम ब्राह्मण का मुख्य काम है देने में ध्यान में दान आदान में विचर तो इसका छठ कर इसको सब करना चाहिए और वो नहीं करता है तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो